अवतार किया किया या गाय जोगी ने खेरी महाराज मो मोड़ी जी राउत बोल मारा ग्वाल जो सुरियों पानी तो मन गुण पातो पातो हर गुणों दीर तो नागर बेले नड़ाई बोल तो जी मारा खामड़ी कामड़ी हर न काटियों का मुख से गाल गाले जीरो ठिंगो हाथ में तो लई गुआरियो लारे बारह वर्ष को दावड़ो लई बने पाव पावे आगे आगे तुम्हें तो गोमती आजी मजी फासा आजा राउत बोझे माका तो तोड़ी सिंगड़ा थारी तोड़िया इतनी लंगोट लंगोट अतरी कहती महाराज को फाटिया फाटी रही मुंडो बाहर आलड़ी फोड़ नाखता खालड़ी खालड़ी और खामू केवे देखा मुंडा मु कई समाचार देखा जोजी केवे देखा या जाड़ जो देखा मन माइन रे जी चादर की मसोड़ मसोड़ छालर गाय को दूध पी ले आसन के माए शीला खाओ छोकरा टुकड़ा और दुनिया करो बसराम बसराम फरबाद का बेगा उड़ जो उड़ जो बारह बस की गाय की ग्वाली मुंह एकठी सुखा दियो एकठी सुखा दियो बाजी छह छह महीना का गुजर का ग्वाली का झगड़ा फरा मेहर दियो मेहर दियो हे महाराज बड़ी तरह तो की अजमेर बाजी अजमेर का बढ़ गया नाग पहाड़ का डूंगर डूंगर क्यों डूंगर में नार भी येरा गनारे में गना मेरे जो मन खा जाओ खा जावे बात तुम तगन तो का रात नरे वा मैं तो गरा जा मारू के मन तो टेम बता दी टेम पर तड़का हाजिर आ वो जावा तो वो जोगी की टेम बताओ देखा देखा जी देखा आ Романе, свои возги. ಆತ ಬೆಟ್ ಭೂಪಾಟ ಬುಗುಡೋ ಇವರಿಗೆ ಕಸಬಗಿರ ಬಾಳೆ ಗೌಸ್ ಮಾಳ ಬಾಳ್ಯ ಬಾಸುಲು ನರೇಶ್ ಮಾಳ भगत के माए वहां टीम की ग्वाली से न चुका दियो एक तो रात भर तो बोझ महाराज गोटे में गया चले फाता ग्वाली लेवा तो रात भर तो ग्रह रियो ग्वाली लेवा जावे खई देखा बाप जी बारह वर्ष की राउत वो ने ग्वाली सुखावे देखा देखा गाय की ग्वाली सुखावे न रा चल सुखावे हम लेवा जी देखा उरो दी काम रो देखा हाँ मन मासित्या जी Lord, छाल कामलो ले ले गुआली जोड़े मोतीड़ा ले ले मोगला तो हीरा को छीन पारे लक्ष्मी का दोबा गालिया गजा गालिया दो इन चार चार आधा गाल दिया गुमड़ा गाली दोड़ी ज्वार भोजा ना की रीस रीस बारह बस तो गाय रही न तो गाय को धनी ग्वाली दीदी दीदी और न दो जी ग्वाली दीदी दीदी और दीदी तो दो जी इसी दीदी बनी का दोबा होमोक्षी का दोबा गजा का दोबा ये द्वारका पोट है ये नखी कह रहा वो जो दीदी दीदी कामला के गाडे रोज लेटियो जी कामलो राड़ियो मोरा के नीचे डूंगर गठोला उतरियो यो चोड़ा के माय दो पल्ला ने ढाब लिया दाबिया दो ही नदिया छटकाए छटकाए छकवासी बोल दो बोल जे क्यों मरे क्यों मरे राड़ो थोरा के माय माय अशिया द्वारका गोडा तो गया और गोर मोगला बढ़िया मोगला बढ़िया गया तो का न खा न कहीं का राशन की द्वार न मिली रात द्वार गणा हां எப்படி போடா பேடி लड़का तो ही काम लो वजी हाँ भोज महाराज ग्रस ले गया हां कहीं समाचार करेगा ये जान जी आ हाँ, मन माई रेवी जी Thank हाँ। you. ભોજાજી માં બહાનું આવી તો બેટા ને કઈ સમાચાર ભોજાजी को माको नाम खी लखमा दे लखमा देवी बहुत खी वहां जी राठौर राठौर कई समाचार देकर बेटा ने संसार के वजह हाँ मन जी राग लाई जी Come God. मन थगा गलाई जी आन रे लग मजी तो बात तो सुन मर बेटा बाजे लग मजी हरियाली बोम बोम हरियाली बोम खाने का खेती बाड़ी ना बाजी कल्लू जो सी तोड़ को कल्लो कल्लू जा गणपतियां का गौड़ा संगा को संगा लाग लाग जो लाग जो पराया कर किसी ठीक है अंधारा घर के मैंने हीरो को वही जो उजाज प्रकाश हां तो जेला में बनिया ने मारियो मारियो कन फोड़ना की बनिया की हाट बेतोड़ा मारक लूट लिया लूटी जान बरात बरात कोई शेड के दारू ना लगी लाग दियो हुदी बोल हुदी जबड़ा फाड़ મેં ગાવડા લૂટે છે जय माता हाँ आज की जिमेरी की गए तेरा ग्वाली हाटे हाजी ये गाय का मीना का दो फीस है देवो अरे जिमेरी गए में सिरमा हाजी जो मां का मीना गुजरी जावे वो जावे ये शेड गाय ने मारो बेटो नाग पाठ काटू काची दूंगी सापे सापे जो मारो बेटो मुझे મોગું બીવા બેડ દઉં રોટી કા બડ દેડ દઉં આહા ગાય છો કામ કરી રોજ દૂધ નખી જાવે લજી મારો બેટો શામડો દેતે બસતો અર બાટા પર ઉલે લે ઉલે જો ઘરે દાદી ને ગાય કો દેને લે લે કંતો કાગર માં દૂસું ઉજા લજી કંતો દૂધ દૂધ આ ગરા દે જાવે મારા બારા બઢિયા ગાય બી આવે પણ એકો દૂધ કટે તો જાવે जो आज गाज में गाठी नहीं राखी आगे तो गोमती और पाछो मुझियो और मारो बेटो श्यामड़ो गाय ने दुबा लागो हम्म, हम्म। मु तो जाती गुजर दगड़ा सीधा सीधा यो बारह बसी गाय की गोली दीदी दीदी हीरा अपना मोखला कर लिया फूंदर साहब का थोड़ा का मैंने न चाहिए मैं चाहिए ये लम बिचेरे हूँ ये तो द्वारका पोटा कामड़ा फंस गया फंस गया यो आपको कामड़ खोंदा को बोलियो भागरा भाग बेटा खटक ना की हां उड़ला उड़ला उड़ला हां सही संचार करे देखा तो देखा मन माइन रे जी પોગડો થાદલો ઉરી લડકા લેવો લડકા લેવો જાતિ માયા તો ઉરી સાદ લેવો કસરાન વડી માં નાંગ દેવા નજી હા રોજી બી બડી બડી વજાય તો આગે તો ભોતો નીકળે અને જે મા બી સાદલો ઓર ગુવારી લેર ફાસે ફાસે ફાસી જાવે જાવે ખી દેગે બોજો આગે જા દેગે તો ખી માને લફાર દે માર દે આ મન માઈ ને જી लेर भाज भाज भाजी जारी जारी आगे जा दे की नाची डमाया मखई कोई ना कोई ने बोले गुडरी उठे तो आहा ये माता गार्डन तो फासी देर दे मुटन ने दे दे सी ठीक है तू बांडी वेगी बावड़ी भूंडियोड़ी खागी भांगे माल मलने पूछ गया जे बोलो गोपाल भाई माया पड़ी आहा कोई तो देगी माया जी भासी ले जा समेट गया कहीं कोई दो ही माँ बेटा वादा घर आया आहा घर आ रही हो बोझ होगी माना कहीं संसार ये Ah, Amen. Amen. Amen. काली माता बात हट खाजे पीजे खर्चजे रबाय लगना छोरा लाग जे धूणिया दऊ दीना नाद की दऊला बारम बाहर हूं तो संघ की तो सेवा करूं धूणे पर देऊला धो धोगे हाथ जोड़ अर्जी करूं करो जी नमो नमो नारायण मेरी दाचे रिजे ए तेईस बाय लगना होरा लाग जे हूं तो जोजी ग्वाली दीदी आहा जी जोजी को मुझे लो वो बजाओ अरे कानम मतलब तो बंदरा थी है येरो अरे माथे दराओं को હું તો ઓગો સિલ્લો વાવ મારી ગાડી Todo mundo और नमो नमो नारायण शंकर की सेवा करे धोने पर देवे दोग हर पर धोने का प्रकमा देरियो गौमुखी में दिया दो नीव आते नमो नमो नारायण महाराज जी पल खुली ओहो खरी समाचार दो जी ने केवे ठीक कह देगा आ मनिया बोला जी हरे हरे वो जो जी अब मेला छोड़ी में कामणिया कामणिया हाँ जुड़तोड़ी छोड़ी मारी माता माता भाई ना छोड़ दिया लगता तुरन तो गोटा के महाजी मैं कट भगवान ना छोड़ियो छोड़ियो अठारह ने कहा आइयो आहा तो कहीं समझा दो दो जी ने वो राउट बोल के मेरे आ मन थगा के लाई जी 他做国家呢，给什么？ और बाउट तो देवे गाड़े बाप कोण कमान खाने आवे जो कर के के वाण रोतो अरे तुम नहीं जेता तो गुण के तो तो था लकण आज जेठ बेटा के पड़े तावड़ा तावड़ो फसगुण ने बोताव तावे जो आयो जो धाव जेर बोजा गेलो गाठ ले गुमारे बाबल मारी मींड कीर बेटो गोलमदार दारे बाप तो कुआरा मर जा बेटा दो दो पड़ने नार नारे एक जा हां थारा जा चला मार हड़ा तीन जो दोने थारा जा ओए थारा जा तो कई समझदार के वजह का हां हे महाराज आज मानो खाल मानो मुंह कुछ लो ये आहा तो जोजी देगा बोल जाने की समझ आता कहते मन बुरा बिरजी है पात देख तलक काला तली को तेल तेल खड़ा हुआ पूर्द उर्द अताता लगा दे ताव बाहर मुंह ने केलो मोड़ ले या बात खेतो ही तो दो जी मारा तो सपड़ बाबरा गया आहा आ जंगल से ले गया ले गया राउत बोल खा तो दो ला दियो ला जी देख बोलिया महाराज के साथ मकाम है ये सात कोठिया जगह ताला दिया और सात ही कुछ अपन ला दी ला दीजिए महाराज तो है कोई ना कोई ने एक ताला पड़ा एड़ा देख महाराज मैंने खी तो खबर खी थी खी सामान खुजे देखा ला जी पर ये बट्टी को दुको बजाई तो हाँ हाँ एक जोगा वो दो जोगा लारे अच्छा गाड़ी तो गाड़ी एक दे ग्राम बच्चे में हाँ। दिया एक तो दे तेल भी मूंद लिया जाए हां अरे इतने सात कोहड़ का सामान देकर देखो मैं आप भी देख लियो एक कोहड़ को तलो खोलियो खोलियो और बीजो साल का कटा रशिया अच्छा कारे कटा क्यों होशिया के बिना देगा वो का बेटा मैं भी आ दापो तो दापो मैं जी ठीक है री कटा काना में सुरा हमें ये आप जीव तो कौन है अरे वो तो बाबूजी अच्छा रो वो मुंडे वो जी काये शेल क्यों करे करान के महीना बैठे चल तो पोलियो अतारो खून में पियो या अरे वो तो बाबूजी अच्छा रो वो तो खाका शेला मुंडा अड्डा मन का ना मारे उनको दूर दियो तीजी कोड़ी बतालो खोलियो बोले तो तीन घर का खून बगो मूड की हसरी हसरी अरे आधी रोरी कहे थे तीन मूड के बड़ी तीन खून है कि मैं आधी तो कहां सुर आधी चुरो चुरो अरे ये खून खाली पड़ियो आजी वो आधी हसरी जो दिखी चेरी और वो जो की चेरी वो रोरी जो चेरी के मैं भी आदमी हां अरे सेले बाय दुरे का माथा आतरा बढ़िया और वो आधी हसरी जो की चेरी का तीन तीन गुणा तीन मूड के पड़ी ये गुणो खाली जो बारी सारी मूड की मगा बेली हाँ अब हम एक ही देरी कोई कोई ने उनको जुड़ दियो बाजी और सोची गोली तो खोलियो खोलियो तो मनखा की दड़ा पड़ी हाँ कोई माटी ने खावे मस्त रेवे रेवे उनको जुड़ दियो हाजी छठी कोड़ी उतारो पांच ही कोड़ी खोलियो खोलियो तो पांच ही के महीने ना तो दो तो हाथी बिंदिया हाजी दो हाथिया का नाम की हाँ, हाँ। एक को तो जेतो और एक को जीतो जीतो रंबा बाड़ी लागी लागरी यू कर छठी कोड़ी उतारो खोलियो खोलियो कमला चौतनी काश्मीरी तंबू लजी बाजी दादे में खंडो बीजल सार को सार को एक तो मूड दो दार लजी और सतपुरी को होना खार को मैंने पियो पियो और ई को में समान सो यो करता करता ना दा सात वाम काम को तालो खोलियो खोलियो तो गोरी मोड़ी बिंदी महीना जो गोरी हीस की दी मोड़ी हम्म। गोरी हाँ महाराज व्यास पड़वा हाँ। जेका कानो शेरो पड़ो जो પણની પણની કહો રહી ગઈ રાજાજી ભાઈ ભાઈ આપણે ક્યાં ગુજર રાજા ભાઈ ના हाँ तो ब्याह अपन ना पढ़ना रियो लेकिन उठक ना जो राण का राव जी के हजारा का लड़का लड़की वहां के सामने समझाई तो, तो रान का महीना लगन खनायो तो रान का राव जी बूढ़ारा का महीना पंद्रह ब्याह में आगे पढ़ में लियो पढ़ सोलह ब्याह मैंने मारा भाई बगड़ा पढ़ना रिया और ही पढ़ना रिया और यो ब्याह तो તે નીમદે ઠાકર કે દાદા ભાઈ યો બ્યાહ મને પડને બાજી મને પડને બાજી ના ભાઈ મારો ભાઈ મને પડના રે મે પેરાણો હી બ્યાહ ને ઓરે પેરાણો તો રાણકા રાવ जी का लगन चल गयो अब राणका राव जी का नु तो परेशान न था जी ब्याह मिल गई आ खेली रे नो दो दे अमर ना गई ओ नो दो दे अमर ना ಒಬ್ಬ ರಾಣಗಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾ ಮಾಡಿರಿಯೋ बारह मन बिकी खड़ा में गुगरी हिजरी हिजरी और गांव की लुगाई भी गुगरी ले जा रही और वो आपने निमड़ाई भी ले भी आ रही गुगरी ले आ रही कई जगह गुगरी ले और रान का राज गुगरी भरी जगह देखा देखा हाँ हाँ साधु गंगा लखी जती आ रही देखा डोलो मारो बाप गोरे लामी रोड़ी